जिस डाली पर डाली निगाह वह डाली डाली फिर न रहे फूल फूल तोड़ सब फेंक दिए लाली हरियाली फिर न रही हर्षित हो हो किलकार मार तर तर पर धाने लगे बली मीठे मीठे फल छाट छाट जे भर भर खाने लगे बली फल खाकर तरु उखाड़ते थे सागर में उन्हें बहाते थे मालीगण सन्मुख आते तो शाखाए मार भगाते थे रखवाले बजरंग के बार बार खामार पहुँच दशानन सभा में करने लगे पुकार स्वामी आया है से एक बाटिका उजाड़ रहा है वह फल खाने की कुछ बात नहीं पर पेड़ उखाड़ रहा है वह बानर है नहीं प्रलय है वह या का हलकारा है विस्मारा है सारा अशोक राक्षस गण को सब मारा है उन सब की यह टेर सुना काप उठा दस भाल जाओ भगा दो किस को भेजे भट तत्काल खल दल आता देख कर उछल पड़े हनुमान वृक्ष हिला कर वेग से गरजे मेघ समान सुनते ही शब्द यसुर कापे फट गए युगल पट कणों के बजरंगन रंग वह दिखलाए बजरंग हुए मुख राक्षस कुछ मेच दिए कुछ खूद दिए कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए कुछ बांध पूछ में घुमा दिए बजरंगी ने रण ने क्षण मेर पुयमपुर पहुँचाए कुछ बचे कुचे यद मरे यसुर फिर राजसभा में चिल्लाए रावण अति क्रोधित हुआ सुन दूसरी पुकार उसी समय ना सहित भेजा यक्ष कुमार इधर बलि बजरंगी ने उड़ते देखी धूल समझ लिया आ रहा है अब के कोई सूर इस बार किया ऐसा गर्जन का पा पत्ता पत्ता बन का मारा उखाड़ कर वृक्ष एक मुँह फेर दिया खल नंदन का झट से कूद पकड़ गर्दन झटका दे घोष किया जय का छाती पर एक लात मारी फट गया कलेजा अक्षय का बजरंग सिंह की मूर्ति देख बकरी सा वह मिमिया उठाओ क्षय हुआ एक क्षण में अक्षय सिर महाकाल मंडरा उठा तब धाये खल दल पर कपि पर ज्वालामुख आग बबूले से रिप लगे बिलोने क्रम क्रम से पानी के निबल बगूले से चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए वहाँ महाप्रलय दिखलाई दी कुछ बचे कुचे फिर भाग चले जाकर इस भांति दुहाई दी आई शीस पे लड़ाई है दुहाई है दुहाई आई शीस पे लड़ाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई राज बाड़े बाग बाड़े बानर ने लुट खाए आए शेष पे लड़ाई है दुहाई है दुहाई झाड़ के उजाड़ के बिगाड़ के उखाड़ के सारी अशोक बाटिका का कर दिया है ढेर अक्षय कुमार मारा है अंधेर है अंधेर है राजदंड हो प्रचंड अन्यथा नहीं भलाई आई शीस पे लड़ाई है दुहाई है दुहाई राजबाड़ी बागबाड़ी बानर ने लूट खाई आई शीस पे लड़ाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई रावण ने यह टेर जब सुनी तीसरी बार अक्षसुता अक्षसूत अक्षय सुत की मृत्यु सुन बोला तनिक विचार इंद्रजीत जब जाओ तुम वानर है बलवंत वध मत करना बांध कर लाना यहाँ तुरंत देखो तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार जिसने मेरे अक्ष को रण में दिया संहार मेघनाद पहुँचा जबे हसे पवन के लाल ताड़ लिया इस बार है योद्धा ये कविशाल फिर गर्ज गर्ज तरवर उखाड़ सीधा प्रहार भरपूर किया रथवान सहित घोड़े मारे रथ को भी चकना चूर किया सारा दल अंगरक्षकों का संहार दिया बजरंगी ने फिर इंद्रजीत के निकट पहुँच जयनाद किया बजरंगी ने हल्का सा कर प्रहार किलकार उठे तर पर जाकर उस इंद्रजीत से योद्धा को मूर्छा आई मुक्का खाकर मूर्छा से जग मायावी ने दिखलाया माया बल सारा बजरंगे से वस न चला मिल गया धूल में छल सारा उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र सालाद नीचे से कहने लगा झुंझला कर घननाद डाले डाले उछल कर दिखलाता है चाल बंदे करता हूँ अभी अपने लिए संभाल मैं मेघनाद कहलाता हूँ बैरी को सदा हराया है जीता है मैंने स्वर्गलोक पर इंद्रजीत को पाया है पर तू भयभीत न हो मन में बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा श्रीमान पिता जे के सम्मुख केवल तुझे ले जाऊंगा हनुमत बोले युद्ध कर बातों का क्या काज इंद्र जलिए जालिए खेल ले इंद्र जाल सब आज यदि तुझको कुछ मन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले क्यों खड़ा हुआ मुँह ताकता है अपने सब कर तब दिखला ले तेरा मेरा रण ही क्या है तुझको खेल खिलाता हूँ तू मेघनाद कहलाता है मैं रामदास कहलाता हूँ तो इंद्रजीत बलवाला है मैं काम जीत बल वाला हूँ तू दीपक है मैं मसाल हूँ रविकुल रवि का उजियाला हूँ बिगड़ उठा यह बात सुन लंकाधीश कुमार ब्रह्मास्त्र लेकर कहा अच्छा रोक प्रहार मुझको तो तुझे बांधना है अतएव बांध ले जाऊंगा सौ दो सौ नहीं सहस्त्रों ही कर्तव्य आप अपने दिखलाऊंगा तो निश्चय ही है महावीर तेरा वीरत्व मानता हूँ ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म फास इसमें अब तुझे बांधता हूँ कहा अंजनी लाल ने पूर्ण हुआ संग्राम बंधन है यह धर्म का बल का और कब क्या काम यह ब्रह्म अस्त्र यह ब्रह्म फास यह ब्रह्मवान ब्रह्मा का है मैं इसे काट सकता हूँ पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर्म निश्चर रटते हैं काले लेते ही नाम तुरंत सारे भव बंधन कटते हैं उनके जन को यह बंधन क्या पर प्रश्न धर्म का है इसमें अतएव नाथ के कार्य हेतु यह अनुचर बंधता है इसमें इतना कह कर बंध गए स्वयं वृक्षों के डाले छोड़ दिए बंधते बंधते भी कपिवर ने बीसों के मस्तक तोड़ दिए लंकेश्वर की सभा में पहुँचे जभी कपीस क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा दसीस